संतन की नम पार्वती पदे हर हर महादेव हम लोग अपने पिछले कुछ सत्रों में हनुमान चालीसा रूपी इस अद्भुत अमर ग्रंथ की ऊपर चिंतन कर रहे हैं और ये ऐसा गागर में सागर है कि पिछले तीन चार सत्रों में हम लोग अभी पहले दोहे पे ही अटके हुए हैं इतनी सुंदर सी यह चीज है कि जितने गोते खाओ उतना इसके अंदर हमको आनंद मिलता है देखा कैसे गोस्वामी जी महाराज इस रचना में प्रारंभ करते हैं कि हम अपने गुरुदेव के श्री चरणों को नमन करते हुए गुरुदेव के चरण कमल की धूली लेते हुए उस चरण कमल की धूली से अपने मन रूपी शीशे को साफ करके फिर हम रघुवर विमल जसू भगवान श्री राम के विमल यश का गुणगान गाने के लिए प्रवृत्त होते हैं जो भी व्यक्ति भगवान के ऐसे यश का गुणगान गाता है उसको जीवन में चारों प्रकार के फलों की सिद्धि हो जाती है जो दायक फलचारी धर्म अर्थ काम और मोक्ष सबकी सिद्धि हो जाती है ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का वचन है प्रमाण है और केवल उनकी वचन नहीं है जैसे रामायण के प्रारंभ में वो कहते हैं कि भैया रामायण में हम जो लिखने जा रहे हैं वो सब चीजें आगम निगम वेद पुराण सब शास्त्रों से निकाल के केवल वही चीज बताने जा रहे हैं तो ये शास्त्र के प्रमाण है और इसीलिए हमारे मनीषी लोग जो हर व्यक्ति के जीवन को समग्रता से जीने की प्रेरणा देते हैं कि आपको मनुष्य जीवन मिला है बड़े भाग से मिला है आप इसको ऐसे जीवन जियो कि आपके समस्त प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि हो अर्थ की प्राप्ति भी आपको पर्याप्त हो कामना की पूर्ति भी आपके जीवन में अवश्य हो धर्म के कार्य आपके जीवन में संपन्न हो जहां पर भी आप रहें केवल अपने लिए ही नहीं अपने कुल के लिए अपने समाज के लिए अपने देश के लिए पूरे विश्व के कल्याण के लिए आप लोगों का आशीर्वाद हो जीवन का इस प्रकार से जो जीवन होता है जो सबके कल्याण के लिए होता है वही धर्म का जीवन होता है तो ये धर्म की सिद्धि अर्थ की सिद्धि काम की सिद्धि और अंततः तो मोक्ष की सिद्धि भी होनी चाहिए और यहां पर गोस्वामी जी आश्वासन देते हैं कि हम आपको पूर्ण निश्चय से हम जैसे पत्थर के ऊपर लिखने वाले वचन होते हैं ऐसे प्रमाण से बता रहे हैं कि हनुमान चालीसा के प्रति आपकी श्रद्धा रहेगी आपका अध्ययन रहेगा पाठ रहेगा तो आपके समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि होगी लेकिन हां इसको हमें अच्छी तरह समझना चाहिए तो ऐसे जो है प्रारंभिक प्रथम दोहे में जो कि कितना का कुछ था इसमें इसमें हम लोगों ने अनेकों रहस्यों के ऊपर चिंतन करा पुरुषार्थ क्या होते हैं कैसे हनुमान चालीसा के पाठ से हमारे ये समस्त पुरुषार्थों की सिद्धि होती है और हमारे मन के अंदर जो उन्होंने कहा कि गुरु के चरण रज से मन रूपी शीशे को साफ करते हैं उन सब रहस्यों के ऊपर हम लोगों ने पिछले कुछ सत्रों में चिंतन करा था और एक और बहुत ही मजेदार चिंतन हम लोग कर रहा था कि यहाँ पे गोस्वामी जी तो हनुमान चालीसा के उसके रचना की संकल्प ले रहे हैं लेकिन बोलते हैं कि हम राम जी के गुणगान गा रहे जा रहे तो वो भी हम लोगों ने रहस्य समझा था कि ये क्या चक्कर है भाई ठीक है गोस्वामी जी राम जी के बड़े महान भगत हैं लेकिन ये थोड़ी है कि ऐसे आपकी कलम खिसक जाती है हनुमान जी के वचन लिखने जा रहे हो कीर्ति लिखने जा रहे हो फिर राम जी का चालू कर दिया आपने हम्म? भक्तों की दासों के दास की इनकी चर्चा तो बहुत महान होती है और इसीलिए सुंदर कांड की सुंदरता का रहस्य यही है कि उसके अंदर हम लोगों को हनुमान जी और विभीषण दोनों के जो है चरित्र का परिचय मिलता है तो ये बहुत सुंदर है सुंदर कांड का निचोड़ है हनुमान चालीसा तो महाराज जी आप राम जी का भजन रचना क्यों लिखने लगे हो ऊन के कह कर संकल्प आपने अपना बदल कैसे लिया तो ये सब रहस्य उन्होंने देखे कि देखे हनुमान चालीसा के पाठ की महिमा ये है यद्यपि हम हनुमान जी के वचनों की चरित्र की लीलाओं के व्यक्तित्व की मूल्य की भक्ति की ज्ञान की अनेकों चर्चाएं करेंगे हम लेकिन इसकी सुंदरता ये होगी कि हनुमान जी जैसे संतों की जिस समय चर्चा होती है अंततः आपको उसके अंदर राम दिखाई पड़ते हैं अगर आप भक्तों की चर्चा करें संतों की चर्चा करें ये तो भगवान के अवतार ही हैं शिव जी के जो हैं अवतार पुरुष हैं सेवा अवतार हैं शिव जी के तो इनकी तो महिमा या परंपार है जो शिव जी की महिमा है वो हनुमान जी के अंदर हमको दिखाई पड़े लेकिन सुंदरता ये है एक हमको दिशा मिलती है यहां पे कि जिस समय भी आप हनुमान जी के चरित्र के अंदर गहराई में जाएंगे तो अंततः गोते खाने पे आपको वहां राम जी मिला करते हैं ये रहस्य हमको पहले दोहे में बताया था और अब दूसरा दोहा आज हम लोग आगे देखते हैं बुद्धि बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोही हर कले से बेकार अद्भुत सा दोहा है हम तो सब लोगों को प्रेरणा दिया करते हैं कि भाई हनुमान चालीसा तुमको कभी इमरजेंसी में पाठ पूरी करने का मौका न मिले कम से कम आप ये दो प्रारंभ के दोहे तो जरूर पढ़ लिया करो पूरे अर्थ के साथ पूरे भाव के साथ इतने अद्भुत से हैं ये जितना चिंतन करो जितना मनन करो इसके अंदर तो आपको एक से एक रहस्य दिखाई पड़ते हैं जैसे सब शास्त्रों का निचोड़ ही इसके अंदर आ गया है जो प्रार्थना होती है प्रार्थना का प्राण है इस दोहे के अंदर बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार हे पवन कुमार आपका हम स्मरण करने जा रहे हैं आपका हम विचार ध्यान करते हैं सुमर मतलब ध्यान करते हैं देखिए पूजा के प्रारंभ में ध्यान के सदैव अंग होता है अथ ध्यानम उपचार होते हैं ना पूजा के उसके प्रारंभ में चलो अथ गणपति ध्यानम अथ गुरु ध्यानम अथ इष्ट देव ध्यानम तो जो भी ध्यान होते हैं उसको बोलते हैं स्मरण करना सुमेरो स्मरण करना तो ये जैसे प्रारंभ में हनुमान जी का हनुमान चालीसा के पहले ध्यान करा जा रहा है बुद्धिहीन तनुजान के सुमिरो पवन कुमार हे पवन कुमार हे हनुमान जी हे भक्ति के आचार्य हे भगवान के सेवा के अवतार हे राम जी को अत्यंत प्रिय ऐसे हनुमान जी का हम प्रारंभ में स्मरण करते हैं देखिए ध्यान की बहुत महिमा है हम लोग के शास्त्र तो वेद पुराण सभी ध्यान की चर्चा करते हैं आजकल तो जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं वो भी ध्यान के बारे में चर्चा करते हैं डॉक्टर्स लोग एडवाइस करते हैं भैया थोड़ा ध्यान कर लिया करो बीपी हो रहा है नींद नहीं आती है तुमको टेंशन हाँ, बढ़ रहा है थोड़ा ध्यान करा करो तुम्हारे जीवन के अंदर समस्या बढ़ती चली जा रही है ध्यान करते हो कि नहीं करते हो कर लिया करो भैया ध्यान थोड़ा ध्यान की लोगों ने प्रमाण देखा है भाई देखिए वैसे तो हम लोग की परंपरा यह है कि वेद प्रमाण है जो भी वेद है भगवान के वचन है वेद भगवान की वाणी है निश्रित हुए हैं भगवान के मुख से यह सनातन धर्म के हिंदू धर्म के समस्त लोगों का पूर्ण विश्वास होता है इसीलिए हमको वेदों की प्रामाणिकता के लिए और कोई प्रमाण नहीं चाहिए होता है श्रद्धा उसको बोलते हैं अब आजकल हम कई बार सुनते हैं कि स्वामी जी आजकल देखो विज्ञान ने ये तरक्की कर ली है ये आविष्कार कर लिया है और वेदों की बात सत्य निकल रही है अरे भाया तुम वेदों की बात की सच्चाई के लिए ये मूर्ख ये नास्तिक वैज्ञानिकों का प्रमाण पर ले रहे हो आज वैज्ञानिक से पूछो ठीक है वो बड़ा अच्छा सिंसियर होगा अच्छा शोध कर रहा है सच्चा इंसान है विनम्र है कम से कम ज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्पित है लेकिन ऐसा भ्रम मत रखो कि वो बड़े ज्ञानी है अगर वैज्ञानिक लोग सब ज्ञानी हो गए होते तो बताओ भैया रिसर्च की लैब काहे चल रही होगी अभी आज कहा रिसर्च कर रहे हो तुम तुम तो बड़े ब्रह्म ज्ञानी हो गए हो तो छोड़ो छाड़ो सब हो गया ना है? लेकिन वो खुद बोलते हैं कि अभी तो हम्म, न्यूटन का एक वचन था कि भैया हमारे सिद्धांतों के वजह से पूरी साइंस की नींव बनी थी हमको पता है लेकिन आप हमारे दिल से पूछो हमने जो जो यहां पे शोध करी है योगदान दिया है वो ज्ञान के सागर के तट पे के केवल कुछ कंकड़ बीज के लाए हैं हम ये हमारे दिल की सच्चाई है और तुम लोग बाकी तो जो है वह अंधेरा नगरी चौपट राजा तो लोग पता ही नहीं है तो हम ही को सर पे उठाए हुए चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हो हाँ? हनुमान जी को भी जो है जो चढ़ाता था बोलते भैया ठीक है भगवान बचाओ राम जी की तारीफ करने लगे बोलते भगवान रक्षा करिए हमारी ये चने का झाड़ सबसे खतरनाक होता है हाँ? जहां पे थोड़ा हवा आ गई नहीं हो गया नहीं हो गया और पता लगा उस दिन लुटिया डूबी अभी तक कुछ कर रहे थे अब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी हम्म? बुद्धिमान लोग कभी भी अपने अंदर अभिमान रूपी स्पीड ब्रेकर नहीं आने देते अभिमान स्पीड ब्रेकर है गाड़ी अच्छी चली जा रही है जहां अभिमान आया <laughs> और इंदौर के स्पीड ब्रेकर तो स्पीड ब्रेकर नहीं गाड़ी ब्रेकर होते हैं <laughs> कहीं पे नई रोड बनी और स्पीड ब्रेकर बना दिया था मुझे हुआ बोलते ओह फिर आगे बोर्ड आएगा सावधान हम्म? अब इस प्रकार से अभिमान का यही हाल होता है कि जहां पर अभिमान आया वहां पे मरे वैज्ञानिक लोग आज शोध कर रहे हैं वही बोलते हैं कि भैया अभी हमको बहुत कुछ जानना है अभी आप लोगों को पता है ना वो स्विट्जरलैंड के एक जगह पे बड़ा भारी शोध चल रहा था गॉड पार्टिकल गॉड पार्टिकल ये एक हिंदुस्तानी वैज्ञानिक थे डॉक्टर बोस उन्होंने प्रपोज करा था उसका नाम ही बोसॉन रखा गया था और बोसॉन की ये प्रपोजल के ऊपर शोध चल रहा था और उन्होंने ढूंढ लिया बोला बिल्कुल सही था वहां गॉड पार्टिकल का मतलब ये नहीं था कि वो ईश्वरीय है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है बड़ा नीव स्थानीय है उसी से सब निकलते हैं आज भी शोध चल रहे देखो बुरे अच्छे लोग हैं लेकिन ये सच्चाई ये है कि जो आदमी आज भी शोध कर रहा है उसके वचनों से हम वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध कभी ना करें आपको पता नहीं लगता है कि आप क्या पाप कर रहे हो विज्ञान ने भी कहा अरे भैया ये विज्ञान की सुंदरता है कि अकल आ रही है हाँ। विज्ञान अगर वेदों की बातों को सिद्ध कर रहा है तो वैज्ञानिक लोगों की तारीफ है कि सही दिशा में गाड़ी चल रही है और यह थोड़ी है कि हमारी बचने सत्य हो गए हमारे शास्त्र सही हो गए क्योंकि कुछ वैज्ञानिक ने बोला है हम्म? शास्त्र अपने आप में प्रमाण है ध्यान के बारे में ये सब हम लोगों को अनंत काल से बता रहे हैं हमारे पतंजलि महर्षि जी ने अष्टांग योग में पूरे ध्यान की व्यवस्था बताई बोलते हैं अगर आपको सही में ध्यान करना है तो ये आठ अंगों से प्रारंभ करो यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि ये तरीका है यम नियम चालू करो कुछ पांच यम रखो मूल्य ऐसे कुछ मूल्य रखो जो किसी भी हालत में मत छोड़ो अगर तुमको ध्यान करना है अगर तुमको मन को शांत सुंदर बनाना है अगर तुमको अपने जीवन के स्वामी बनना है कुछ नियम रखो कुछ यम रखो स्वस्थ रहो आसन करो प्राणायाम करो प्रत्याहार करो इंद्रियों को अंतर्मुख करो एक चीज में एक देश में अपनी मन को एकाग्र करने का थोड़ा सामर्थ्य रखो चित्त को एक देश बंधा एक जगह अपने स्थिर करो चित्त को फिर ध्यान करो ये पूरी प्रक्रिया को हजारों साल से बता रहे ध्यान बहुत आवश्यक चीज होती है बड़ी कल्याणकारी चीज होती है आपको भगवान के भक्ति करनी है तो आपको जो है वह हम्म, नई चीज आई है यार मार साहब में तिगड़म हो रहा है अब फायदा भी होता है कि इतना बड़ा पहाड़ ना रखो लेकिन अभी अभ्यास नहीं फिसल जाता है अच्छा चलो आ, तो ये ध्यान का जो है वह इतने महत्व होते हैं भजन करना हो तो ध्यान योग करना हो तो ध्यान ज्ञान प्राप्ति करनी हो तो ध्यान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना हो तो ध्यान स्वस्थ रहना हो तो ध्यान इतनी बढ़िया चीज इसीलिए हम लोग के वहां पे ये नियम सही है कि ध्यान जो है वो हम लोग पूजा के पहले ध्यान करते हैं हम्म? पंडित जी बोलते हैं भैया आगमन करो अपने गुरु का ध्यान करो गणेश जी का ध्यान करो इष्ट देवता का ध्यान करो पूजा बाद में कराएंगे पहले ध्यान करो प्राणायाम करो पहले और ये करो संकल्प लो ये प्रारंभ की चीज हम लोग अभी थोड़ा ध्यान के ऊपर विचार कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है हम सब लोगों को प्रेरणा देंगे कि आप अवश्य सवेरे उठ के ध्यान का अभ्यास चालू करो हनुमान चालीसा का प्रारंभ करने से पहले हनुमान जी का ध्यान बता रहे हैं ना बुद्धि ही न तनु जान के सुमिरो पवन कुमार हम आपका स्मरण करते हैं ध्यान अनेकों प्रकार के होते हैं विचार ध्यान जो प्रारंभ में हर व्यक्ति को श्री गणेश जहां से करना चाहिए वो ये होता है कि आप सबसे बढ़िया तो ध्यान सवेरे सवेरे होता है सवेरे के समय आप ध्यान का एक नियम बनाइए सवेरे उठ के ज्यादा तो अच्छा है कि आप शौच आदि से निवृत्त हो थोड़े से स्वच्छ हो नहाने से पूर्व भी ध्यान कर सकते हो बस थोड़ा फ्रेश हो जाओ क्योंकि रात भर की जो शरीर के अंदर गर्मी होती है मलिनताएं होती हैं वो सब निकल के आप रिलैक्स हो जाओ और थोड़ा मुसाफा करके कहीं पर आप शांति से बैठो अब ये मत पूछना कि सवेरा कितने बजे होता है हाँ। अब आजकल के समय ये नहीं सिद्धांत दिया जा सकता है भाई नाइट ड्यूटी वाले का सवेरा तो कितने बजे होता है वो तो आप ही जानो सवेरा वो होता है जिस समय आप पर्याप्त निद्रा लेके जग जाओ तो वो सवेरा अब आजकल के कलयुग के हिसाब से परिभाषा बदलनी पड़ेगी अब पहले जब बिजली नहीं हुआ करती थी तो हम लोग सूर्य देवता के हिसाब से जीवन चलाते थे तो सूर्य अस्त हुआ तो पता लगा गांव के अंदर भी सब शाम को थोड़ी देर चौपाल में बैठे और भजन भजन हुआ उसके बाद भोजन पानी करके सो गए करोगे क्या दे रहे में अब हम्म? उसके उपरांत फिर सवेरे सवेरे अपने आप जल्दी सोगे जल्दी उठोगे तो वो समय तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर होता है जब आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ सूर्य उदय से पहले जब उठ जाओ तो पूरी प्रकृति का नजारा अलग होता है शांत वातावरण स्वच्छ हवा पवित्रता हर जगह पवित्रता होती उसको महसूस करना चाहिए वैसे तो ध्यान जो है वह सवेरे सवेरे उठ के आप थोड़ा टहल लो थोड़ा हवा लो प्राणायाम करो हर दृष्टिकोण से कल्याणकारी चीज है अगर आदमी केवल इतना एक नियम बना ले हम्म। लेकिन ठीक है सब लोगों के लिए ये होता नहीं है तो फिर ये कहा जाता है कि देखो आपकी जैसी भी नौकरी है काम धंधा है भैया जो भी शेड्यूल है ड्यूटी का वो आप जानो लेकिन ये आवश्यक होता है कि ध्यान के पहले आप अच्छी तरीके से पर्याप्त निद्रा लेनी चाहिए गीता के छठे अध्याय में भगवान बोलते हैं कि अर्जुन युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवती दुख योग तब आपके दुख का हरा हरण करने वाला हो जाएगा जब आपने बैलेंस रखा निद्रा जगने खाने सब चीजों में बैलेंस रखो युक्त आहार विहार से किसकी क्या जरूरत है छोटे बच्चे की निद्रा ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर पूरा मेटाबॉलिज्म चलता है पूरे शरीर का निर्माण चलता है ऊर्जा का प्रयोग होता है तो उसको विश्राम ज्यादा चाहिए होता है और जैसे जैसे हम लोग बड़े होते रहते हैं वैसे अपनी जरूरतें कम होती जाती हैं तो आप अपने निद्रा देखिए आपको खुद देखना चाहिए कि कितनी निद्रा आपके लिए आवश्यक है ज्यादा ले लोगे ना जिस दिन उठने के बाद भी जो है जमुआई आती रहेगी थकावट आती कम ले लोगे तो भी आएगी इसीलिए आप खुद विवेक करो जैसे रोटी किसको कितनी खानी चाहिए हम थोड़ी है बताने वाले यार दो रोटी खाया करो अरे वो अच्छी तरीके से किसान का काम करता है बिलदारी करता है उसको हम क्या बोले दो रोटी खाओ वो दो रोटी तो स्टार्टर होती है उसकी आजकल खाने के पहले होता है ना स्टार्टर आ रहा है गुरुजी आपको कल ही गए थे किसी के वहां तो उन्होंने बोला गुरु जी स्टार्टर हमने बोला क्या है स्टार्टर हाँ, बोलते आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है उस समय उसके बाद फिर जो झमाझम खाए जाओ तो वो तो जो आदमी मेहनती है उस मेहनती आदमी के लिए दो रोटी से तान थोड़ी बनेगा हम अपने डॉक्टर से बोले डॉक्टर साहब कितना खाएं एक के पास गए हम भैया शुगर वगैरह टेस्ट कराने बचपन में जो गुड्डा गुड़िया के होते ना बर्तन छोटी कटोरी छोटा चम्मच तो हमको ला के दिखाए गुरु जी ये साइज की कटोरी में खाना खाया करो हमें बोला डॉक्टर साहब ये खाने के पहले खाएं कि खाने के बाद खाएं <laughs> बोलते नहीं महाराज इतना ही खाओ बस इससे ज्यादा खाओ तो जहर आपको मुसीबत तो आदमी को कितनी निद्रा लेनी है ये आपको अपने जीवन से देखना पड़ेगा बेस्ट तरीका है अपने अंदर आप देखो ज्यादा ले लो तो आलस कम ले लो तो आलस तो राइट चीज आप समझ जाओ निद्रा चीज लो और उसके उपरांत फ्रेश होके देखो निद्रा इतनी आशीर्वाद होती है शरीर स्वस्थ हो जाता है रोग खत्म हो जाते हैं मन के तनाव खत्म हो जाते हैं हर प्रकार की आशीर्वाद हो जाता है बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है और आपको एक और छोटी सी चीज बता दें भाई देवे निद्रा लेने के समय आजकल प्रमाण मिला है कि रात को मोबाइल बंद कर दिया करो बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर किसी के घर में इंटरनेट है वाईफाई वगैरह है ना जरूर बंद कर दो रात को इससे एक अभी शोध आई है कि जो व्यक्ति अगर मोबाइल को रात को चालू रखता है वने को आप लोगों ने सुना ना मोबाइल से जो है भैया कान में ज्यादा लगा के मत सुना करो उसके अंदर ऐसे रेडिएशन होती है कि आपके दिमाग को प्रभाव पड़ता है आदमी की उम्र के ऊपर प्रभाव पड़ता है उसकी निद्रा पे प्रभाव पड़ता है उसकी मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है अनेकों दृष्टिकोण से हम लोगों के दिमाग में एक होता है पीनियल ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और उससे एक पदार्थ निकलता है सेरोटिन सेरोटिन जो होता है वो अमृत माना जाता है समुद्र का मंथन हुआ था ना अमृत निकला तो ये बोलते हैं कि पीनियल ग्लैंड से सेरोटिन नाम का पदार्थ निकलता है अमृत तुल्य है और जहां वो उत्पन्न होता है पूरे शरीर को बिल्कुल ही निरोगी कर देगा स्वस्थ कर देगा मन को भी सुंदर बना देगा रिलैक्स कर देगा तनाव रहित कर देगा और इसका देखो भगवान ने क्या चीज बनाई है भैया सेरोटिन जो पीनियल ग्लैंड से निकलती है केवल अंधकार में निकलती जहां लाइट दे दो बंद हो जाती है पीनियल ग्लैंड काम ही करना बंद कर देता है अब सोचो भगवान ने 12 घंटे दिन 12 घंटे रात क्यों बना है? हाँ? हम लोगों ने जब से ये बिजली का आविष्कार कर लिया ना तो रात को भी बिजली जला करती है अभी तो देखें भैया हम लोग तो काफी तरक्की शुदा है देखो हमारे शहर में है? लाइट ही लाइट रात को हमारे मोहल्ले में भी लाइट और घर में भी लाइट बोलते हैं हाँ तुम्हारा जीवन मुसीबत हो रहा है अंधकार का आशीर्वाद समझो पूरी लाइट बंद करनी चाहिए कम से कम अपने कमरे में तो आप बंद कर लो और जो मोबाइल से किरणें निकलती हैं वो प्रकाश तुल्य होती हैं मस्तिष्क के लिए किरणें होती हैं उसमें लाइट से भी किरणें निकलती हैं इससे किरणें निकलती हैं और आपके अंदर जो स्वस्थता होनी चाहिए निद्रा की निद्रा आती नहीं ठीक से तो रोग हो जाते हैं बल्कि यहां तक देखा जिसके घर के आसपास मोबाइल के टावर लग जाते हैं ना आजकल मोबाइल कंपनी वाले आते हैं कि आपके वहां टावर लगा हैं भैया मोबाइल आपको अलग से महीना किराया भी मिल जाएगा हाँ? भूल से मत लगवा घर आपका लेने का प्रयोजन ही खत्म हो जाएगा उस घर में स्वस्थ नहीं रहोगे रोगी बनोगे उसके नीचे जो लोग अड़ोस पड़ोस में उस क्षेत्र में रहते हैं उन लोगों के जीवन की मुसीबत हो जाती है हाँ? हमने एक केस पढ़ा कि एक व्यक्ति का यूके में वहां पे घर था पास में बना बड़े लोग खुश हुए यार जो बड़े मोबाइल बढ़िया चलेगा यहाँ पे तो टावर आ गया पास ही में उस व्यक्ति को ऐसा कैंसर का रोग चालू हुआ बोला यार हम इतना स्वस्थ बढ़िया जीवन जीते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है खाना संतुलित रहना संतुलित विचार संतुलित आया तो आया कहां से इतनी कोशिशें करी बाद में पता लगा ये मोबाइल टावर का प्रसाद है और लोगों ने आके पूरे घर को जो है वो ऐसी परत बनाई जिससे कि अंदर रेडिएशन ना हो तब जाके वो बचा पूरे गांव ने जो है उसके विरोध में आवाज उठाई और बोला यार दूर करो हमारे मोबाइल में थोड़े से स्ट्रेंथ कम आएगी चलेगा लेकिन ये थोड़ी मोबाइल के बाद के चक्कर में हम मरे जा रहे हैं है? शादी हो चुकी है हमारी अब मरने की जरूरत नहीं है मतलब काया मारे डाल हमको इस समय <laughs> तो उन लोगों ने ऐसा करके उसको दूर करवा दिया निद्रा रात को बहुत आवश्यक है बढ़िया तरीके से सो घोड़े बेच के सो कहावती है ना ये आदमी ऐसे सोता है घोड़े बेच के सोता है अब घोड़े वोड़े ना हो तो जितना जो कुछ है बेच के सो सब भगीरी से सो उस समय कोई उठा के भी ले जाए तो भी निश्चिंत होके सो ऐसे सोना बहुत आवश्यक है बड़े पुण्यात्मा होते हैं जिनको अच्छी नींद आती है और जिनको राग में नींद नहीं आती है भैया क्षमा करना पापी है वो कोई ना कोई पाप है या तो शरीर में रोग है या कुछ ना कुछ गड़बड़ है बहुत आवश्यक होता है आपका शरीर स्वस्थ रहेगा मन स्वस्थ रहेगा कई बार होता है ना एक छोटी सी झपकी आ जाए तो कैसे फ्रेश हो जाते हैं ऐसी निद्रा का आशीर्वाद होता है और उसके बाद ही ध्यान करा जाता है हम जब भी कई बार यहां पे शिविर लेते हैं तो ध्यान के भी सत्र चलाते हैं तो कई बार बड़ा मजेदार अनुभव होता है ध्यान के लिए सवेरे सब बिल्कुल फ्रेश फ्रेश होके बड़ा उत्साह रहता है हाँ, गुरु जी ध्यान सीखने जा रहे हैं ध्यान सीखने जा रहे हैं सब आके कमरे में बैठे और उसके बाद सब लाइटें बंद कर दी जाती हैं एक छोटी से दीपक जल रहा हो बस इतना पर्याप्त है कि सब हाँ, आराम से अपना एकाग्रता वातावरण बना के और फिर धीमे धीमे उनको बताया जाता है अब आप जो है अपनी सांसें ऐसे करो अब ऐसे ध्यान करो और अब जो है भगवान के नाम का स्मरण ऐसे करो और एक एक करके जो है जो प्रतिपादन करते हैं हमको लगा कि देखो सब क्या बढ़िया मुद्रा में बैठे हुए हैं सब समाधि में जाने वाले एक बार जहां पे हम बता रहे थे तो एक विचित्र आवाज आई <laughs> पता है यार क्या आज सवेरे सवेरे ध्यान की क्लास करी और वो यहां आके बैठ के सो रहा है और खर्राटे भी मार रहा है देखो जरा यार चुपचाप सोना हो तो सोते रहो ना लाइट तो बंद है कोई देख नहीं रहा है गुरु जी भी देख नहीं रहे जग रहे हो भी सो रहे हो खर्राटे क्यों मार रहे हो फिर अपने आप को समझाते हैं भाई देखो तो यार प्रवचन की महिमा गुरु के चरणों में ध्यान करने की महिमा आठ घंटे रात को पड़ा रहा करवटे बदलता रहा सोया नहीं और अभी तुमने दो मिनट में सुला दिया उसको बोलो सियावर रामचंद्र की जय ये महिमा होती ध्यान की इसीलिए कोई अगर ध्यान व्यान करवाना हो ना तो एक हमारा टी टेप या सीडी ले लेना नहीं नींद आएगी आ जाएगी प्रमाण उस आदमी का अच्छे अच्छे सो जाते हैं <laughs> और जो पुण्यात्मा है वो जग जाते हैं हम्म। ध्यान जो है वह सवेरे उठ के जरूर करो या जब भी आपको वातावरण वातावरण बाहर भी शांत होना चाहिए और आपका मन और शरीर भी शांत होना चाहिए तो ऐसी कोई जगह हर आदमी को अपने घर के हिसाब से वातावरण बनाते ही हैं हम लोग सोने का कक्ष भोजन का कक्ष उसी तरीके से पूजा या ध्यान का कक्ष अगर संभव हो तो अलग बनाओ नहीं संभव हो तो छत पे जाके बैठो बढ़िया स्वच्छ हवा हो उस समय बैठो या कोई भी कमरा एक आंख में बना लो जहां पर आप बैठ सकें और बैठने के बाद अपने आंख बंद करके देखिए ध्यान के लिए को लोग चीजें बताते हैं क्या करना ध्यान में ध्यान के अंदर आपको सबसे पहले तो एक ठीक से बढ़िया बैठने का आसन सीखना चाहिए बढ़िया सबसे स्वस्थ आसन जो रहता है कि आपकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और पालथी मार के दोनों घुटने अगर नीचे लगाए लगा दो हम्म, जैसे पद्मासन होता है सिद्धासन होता है एक कोई भी आसन कोई विशेष चीज नहीं अपने हिसाब से आसन देख लो ऐसा आसन होना चाहिए जिसमें बैठ के फिर आप शरीर को थोड़ी देर भूल जाओ और आपका शरीर देखो हमारे शरीर और मन के अलावा भी एक बड़ी महान दुनिया है अपने अंदर जगते हुए हम ऐसी दिव्य अनुभूतियां प्राप्त कर सकते हैं एक बार शरीर से थोड़ा सा छूटना चाहिए इसको वेदांत शास्त्र में बोलते हैं देहात्म बुद्धि सदैव देह के साथ जुड़े रहने से आप इतने बड़े महान आनंद से वंचित हो रहे इसीलिए थोड़ी देर ध्यान में बैठो शरीर को स्थिर करो और सुंदर चीज में अपना मन लगा के शरीर को भूलना चाहिए जो अगर अच्छा आसन नहीं लगाता है पता क्या होता है जहां आप शरीर को भूले एकदम शरीर गिरने लगे झटका होता है हमारे साथ एक सज्जन ब्रह्मचारी जी पढ़ा करते थे केरला से थे हम्म, बड़ा योगी जैसा शरीर था उसका बड़ा फर्स्ट क्लास बड़ा हमको प्रेरणा मिलती थी वो देख के सवेरे उठ के योगासन करता था फर्स्ट क्लास और तब बढ़िया पद्मासन लगाता था और बैठता था पहली लाइन में हम्म, हम लोग सौ पचास स्टूडेंट थे हमारे कोर्स में जब हम पढ़ते थे अपने गुरुजी के वहां पे तो पहली लाइन में बैठेगा और ऐसा पीठ सीधी गला सिर एक लाइन में यो बिल्कुल हाथ ऐसे शक्ल देख के लगता है आदमी जगा हुआ है किसी किसी का बैठने का अंदाज लगता है यार ये जग रहा है कि सो रहा है, है? हाँ? अब डाउट होता ही है ना <laughs> सर लटक रहा है इसे हाँ? और निद्रा जिस समय आती है उस समय आप देखना कि आपकी पीठ मुड़ी होगी अगर पीठ आपकी मुड़ी है बैठने के समय तो निद्रा के लिए यह आमंत्रण होता है भाई हम शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर रहे हैं अब आओ देवी जी पधारो हमारे देश है? हाँ? तो आई हमारे पास तो वो जल्दी आ जाती है लेकिन अगर बिल्कुल पीठ सीधी करके बैठोगे हम्म, हमारा मेरुदंड सीधा होना चाहिए उसमें जो है निद्रा नहीं आती है आदमी जग रहा है जैसे बैठने का अंदाज ही जगे हुए लोगों का है और वही आदमी आगे भी जगा करता है तो ये यहां पर ऐसे बढ़िया एक ध्यान में बैठने का अभ्यास करो बड़ी मुक्ति मिलती है नहीं तो जहां जाओ जो जमीन पर बैठने वालों का अभ्यास नहीं कर है उनको बेचारों को किसी ने दिशा नहीं दी प्रेरणा नहीं दी हाँ। एक आदमी सूटकेस खरीदने गया सूटकेस खरीदने में मतलब भैया कैसा चाहिए बोलते हैं यार ऐसा चाहिए कि रेलवे स्टेशन में हम बैठ जाएं उसके ऊपर <laughs> अब कई बार हमको बेंच नहीं मिलती यार कई बार कुर्सी नहीं मिलती तो क्या करें खड़े खड़े कब तक बैठे रहे कड़क वाले जो कड़क वाला तो बैठ जाए उसके ऊपर सब सदैव प्रॉब्लम यही है सज्जन वॉकिंग स्ट्रीट लाइफ है वॉकिंग स्टिक का हैंडल दो भागों में विभाजित हो जाता था और वो नीचे लगा के बैठा बोलते हैं स्वामी जी ये वॉकिंग स्टिक कुर्सी वाली है दुनिया भर के बंधन है वॉकिंग स्टिक ऐसी लेके चलो कुर्सी लेके चलो सदैव पालथी मारो कहीं पर बैठो मस्ती से योगी राज तुमको क्या समस्या है तुम अपने शरीर को पराधीन बना रहे हो अगर तुमने शरीर को इस प्रकार से बना लिया तो वो ही तुम्हारे लिए मुक्ति है और आजकल जो है ना हमको भी वो रोग हो गया था हमारे गुरुजी भी काफी वर्षों बाद मिले थे तब तक हम बिगड़ चुके थे किस हिसाब से बिगड़ चुके थे बैठने के अंदाज में हमको आज भी जो है जब हम पहले भैया आश्रम बताएं आपको चुपचाप बता रहे हैं सबको मत बताना आप <laughs> बैठने की अकल नहीं थी जमीन में हम जब गए थे तो हमारा पैर यूं रहता था तो जमीन में बैठे नहीं थे अब घर के अंदर संस्कृति बच्चों की क्या गलती भैया जहां जाओ कुर्सी जहां जाओ कुर्सी जहां जाओ सोफा बस यही तो बैठते थे तो बैठने का आदत ही नहीं थी अब वहां पे जो है कुर्सियों में मिलती नहीं कुर्सियां तो बैठने मुसीबत अब कब तक जो है केवल अपने ही नोक के ऊपर बैठे रहो पीछे थक जाते थे एकाग्रता खराब हो जाती थी हमने गुरु जी से प्रार्थना करी महाराज जी आप बड़े करुणा निधान है एक कुर्सी दिलवा दो तो बड़ा अच्छा है सब व्यवस्था ए टू जेड बढ़िया करी थी उन्होंने बेड वेड अलमारी लोहे की टेबल से जमीन में बैठने की टेबल कुर्सी नहीं दी उन्होंने बोला महाराज जी दीना बंधु नाथ कम से कम एक कुर्सी की कृपा हो जाए तो उन्होंने वही बोला जैसे भगवान विष्णु ने नारद जी को बोला था हम वही करेंगे जो तुम्हारे हित का होगा हमने बोला हो गई कुर्सी अब तो <laughs> लेकिन वो वहां पे जो आश्रम के मैनेजर थे उनको ये बताया है कि ये जो ब्रह्मचारी जी आए हैं इनके आसपास की सब कुर्सियां उठवा ली जाए बाहर भी कुर्सी ना मिलने पाए इसको देते नहीं थे फिर बड़ी गुस्सा एक बार तो हमने सोचा तो हम गलत जगह आ गए हम छोड़ के चले जाएंगे कोई मतलब नहीं ये तो निष्ठुर हैं ये तो ऐसे हैं कोई दया विहीन है और ऐसे हैं ये पीड़ा देना चाहते हैं सैटिस्ट हैं बहुत गुस्सा मन में आती थी लेकिन पढ़ाते बहुत अच्छा थे हमें बोला चलो थोड़े दिन और सही ये वाला किताब खत्म हो जाए तो हम छोड़ के चले जाएंगे लेकिन जब तक वो किताब खत्म हुई तब तक बैठने का एंगल बदल चुका था हमारा हाँ? तब तक अभ्यास हो गया बैठने की आदत पड़ने लगी तो ये आदत जो है एक बार पड़ जाए बड़ी मुक्ति मिलती कहीं बार जंगल में जाओ बैठो पालथी मार के फर्स्ट क्लास शरीर से परे अगर कुर्सी में हम पैर लटका के सदैव बैठते हैं तो क्या हुआ कि हमारे पैर में भी वेरिकोज वेन्स का एक प्रॉब्लम होता है नसें फूल जाती हैं किसी किसी को देखते हो ना इतनी इतनी मोटी बूरी नसें उसकी अब हम घंटों घंटों पढ़ाई करना करवाना वर्षों तक करते रहे ये रगड़ा हो गया सब बोलते हैं भैया अगर आप कायदे से ध्यान के आसन में बैठने का अभ्यास करते ये रगड़े नहीं होते आपको इसको आजकल जो है डॉक्टर लोग बोलते हैं सबसे इर्गोनॉमिक पॉस्चर जो सबसे उचित पॉस्चर होता है बैठने का वो होता है जमीन में पालथी मार के बैठना शरीर के लिए ऊर्जा आपके हर जगह लॉक हो जाते हैं और पूरी ऊर्जा मस्तिष्क में सुंदरता से जाती है ध्यान करना हो शुरुआत यहां से करो शरीर को थोड़ी लचक लानी हो तो आसन करो उससे शरीर में लचक आती है पर्याप्त तो जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है और आप अच्छी तरीके से आसन में बैठ बढ़िया आसन में बैठ के बिल्कुल ही मूर्तिवत बैठना चाहिए थोड़ी देर के लिए आप शरीर को मूर्ति बनाओ खुजली भी आए तो न खुज लाओ कहीं पर भी जो है वह कई बार मच्छर मक्खी को पता लग जाता है ये ध्यान कर रहा है उसी समय आके बैठती है और पता नहीं आदमी की नाक भगवान ने ऐसी निकाली हुई है तो ऐसा लगता है उसको लैंडिंग की जगह तो यहीं आके बैठती है कई बार हमको भी अभ्यास हुआ कि यहीं क्यों बैठती आके इस समय हमने प्रतिज्ञा ली है कि हिलेंगे नहीं बड़ा धर्म संकट होता था लेकिन बोला यार कुछ भी हो जाए इस समय तुम बड़े सोच समझ के आई हो हाँ, खुजला लो गुदगुदा लो जो करना है कुछ नहीं करेंगे इस समय तो बिल्कुल ही मूर्तिवत बैठे हैं हम ये केवल अभ्यास की बात होती है भैया हम अपने अंदर दृढ़ निश्चय करें कि मूर्तिवत शास्त्र शब्द यूज प्रयोग करते हैं ऐसा बिल्कुल मत हिलो और अगर ऐसी आदत डालोगे तो आप शीघ्र ही पड़ जाएगी आपके हफ्ता दस दिन प्रयोग करना पड़ता है अभ्यास करना पड़ता है उसके बाद ऐसे बढ़िया तरीके से बैठ रहे हैं और उसके उपरांत कुछ प्राणायाम करना चाहिए गहरी सांसें लेनी चाहिए सबसे बढ़िया प्राणायाम तो जो है वह हमारे बाबा रामदेव जी तो अनेकों प्रकार के अभ्यास लोगों को बताते हैं बड़ा जागृति उन्होंने करी इस चीज में ओम का उच्चारण दीर्घ प्रणव उच्चारण ये बहुत अच्छा होता है इसमें सब प्रकार की चीजों का समावेश हो जाता है वैसे तो आप दूसरे भी अभ्यास करो लेकिन इतना ही भी कर लो गहरी गहरी सांस से लो सामान्यतः हम लोग अपने फेफड़े का बड़ा कम प्रयोग करते हैं प्रदूषित वायु अंदर पड़ी रहती है इसीलिए पूरी गहरी सांस से अंदर सब प्रदूषित वायु निकल जाती है और स्वच्छ वायु अंदर जाती है फिर ले जाओ फिर तो ऊर्जा अच्छी हो जाती और उसके उपरांत फिर एक नॉर्मल सांसें चलने दो थोड़ी देर के लिए यह भी हम लोगों को अभ्यास कराया जाता है कि अपनी सांसों के दृष्टा बनो मात्र संचालित नहीं करो फिर उसके बाद प्राणायाम के बाद मात्र दृष्टा बनो सांस आ रही है जा रही है और आप केवल दृष्टा देखने वाले बिल्कुल शांत स्थिर ये अभ्यास करने के बाद फिर अपने गुरु का स्मरण करो हम्म? गुरु का स्मरण और इष्ट देवता का स्मरण ये दो चीजों का प्रारंभ में ध्यान करना चाहिए गुरु का स्मरण तो सदैव महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हमको भगवान का ज्ञान ही उनसे मिला है तो उनके स्मरण से मन के अंदर कृतज्ञता होती है कृतज्ञता सात्विकता का द्वार होती है अगर ध्यान आपको बढ़िया करना है ना तो मन का वातावरण सात्विक होना चाहिए अब ये एक एक शब्द ऐसे हैं कि हमारे मन में प्रेरणा होती ये भी बता दो ये भी बता दो ये भी बता दो हाँ? अब वैसे तो हम लोगों के पास कोई समय का अंकुश नहीं है यार हम लोग तो हम तो चालू रखेंगे दूसरे दोहे पे ही दस बीस बार कर देंगे हमको क्या <laughs> लेकिन तो भी मन लगता है कि यार सब लोग इतना आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे हम्म। तो ये जो यहां पे मन के अंदर सात्विक तीन गुण होते हैं ना तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण तमोगुण अगर आप अपने मन और आप उसके मालिक होते हो ये हमारे मन का मूड बनाते हैं और अगर आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से बदल सकते हो तमोगुण जो है वो जब भी आता है जो कि इसका कोई महत्व भी होता है आशीर्वाद होता है निद्रा के लिए तमोगुण आवश्यक है कर्म करने के लिए रजोगुण आवश्यक है उत्साही होना चाहिए उमंग होना चाहिए और ज्ञान भजन योग भक्ति सबके लिए सत्व गुण होना चाहिए वैसे तो सत्व गुण होता है वो सबका कल्याण करता है निद्रा का भी आशीर्वाद दे देगा रजोगुण का भी आशीर्वाद दे देगा वो सब चीज की देखभाल कर लेता है और सत्व गुण कैसे आता है धन्यता से आता है आपको पता है तमोगुण क्यों आता है जब हम थक जाते हैं हार जाते हैं निष्क्रिय हो जाते निरुत्साही हो जाते हैं यार हमसे कुछ नहीं होगा अब यार तो थकावट हो गई इसलिए निद्रा आ रही रात को सोने के पहले अब थक गए यार कल देखेंगे ये तमोगुण है तमोगुण कई बार आदमी के जीवन में प्रधान बन जाता है बहुलता हो जाती है से बोलो चलो यार वो काम करना है अरे यार हम कुछ नहीं होगा बहुत कर लिया पता नहीं किस समय भगवान ने बनाया है यार जो करो सभी गड़बड़ हो जाता है अब तो उत्साह ही नहीं होता करने का अगर सोच ऐसी आ गई तो नो गुण का द्वार हो जाता है और बड़ा नुकसान होता है रजोगुण आता है जिस समय आदमी के अंदर एक कमी होती है और स्वार्थ की पूर्ति की उमंग होती है हम ये करेंगे हम वो करेंगे और हम कामयाब हो जाएंगे हम ऐसा करेंगे मैं की ध्वजा आरोहण होता है मैं की महिमा की स्थापना करने की इच्छा स्वार्थ की प्रधानता होती स्वार्थ बड़ी प्रेरणा देता है स्वार्थ की पूर्ति की जहां उमंग होती है आदमी देखो कैसे रात बेरात काम धंधे में चला जाता है तो स्टेशन के बाद जब उस टाइम पहुंच जाना देखना तुम्हारा धंधा जो है चार गुना हो जाएगा वो सोता गाता लुढ़कता पड़ता पहुंच जाएगा हाँ? क्योंकि फायदा होने वाला है फायदा जहां पे होने वाला है आदमी देश विदेश चला जाता है हम्म? स्वार्थ बहुत बड़ी प्रेरणा होती है लेकिन साथ साथ अपने स्वार्थ की चिंता ये ही मन को राजसिक बनाती है अनेकों उसकी समस्याएं भी आती है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब रजोगुण की संतान है जिसके अंदर राजसिकता होती है उसी के मन के अंदर सब विकार होते हैं इसीलिए शास्त्र में इसको सबसे स्वस्थ तरीका नहीं माना जाता है स्वार्थ की पूर्ति आदमी को काम तो करा देगी लेकिन छोटा बनाए रखेगी संवेदना विहीन कर देगी दूसरे के प्रति ध्यान नहीं होगा तुम जियो मरो उसकी भी चिंता नहीं होगी अब अनेकों देखो यहां पे हम्म, आतंकवादी हैं कितनी मेहनत करते हैं फौजियों की तरीके से मेहनत करते हैं तपस्वी की तरीके से रहते हैं लेकिन क्या जड़ता की हद है कि किसको मार रहे हैं नहीं मार रहे परिवार है बच्चा है महिला है कोई बड़े बुजुर्ग है कुछ चिंता ही नहीं होती जड़ हो गया है हमारा इंसानियत ही खो गई जड़ता की यह पराकाष्ठा होती है कि दूसरा जिए या मरे कोई चिंता नहीं होती इसलिए जहां स्वार्थ की प्रधानता जीवन में बढ़ती जाएगी आदमी को पता होना चाहिए कि ये रोड किस तरफ जाती है हम्म? कई बार वो लोग महाराज जी अगर हम किसी आदमी को बताएं नहीं कि तुम काम करो हम्म? तुमको ये करना चाहिए बेटा तुमको फर्स्ट आना चाहिए तुमको ये देंगे और अगर तुम ऐसे कर लोगे तो तुमको साइकिल लेके देंगे अगर तुम ऐसे कर लोगे तो पिक्चर दिखाएंगे जाके हम्म? अब हम उसको प्रेरणा देते हैं कई बार काम करवाने के लिए प्रलोभन देते हैं कि तब तुम विशिष्ट होगे तब तुम्हारी महिमा होगी तुमको जो है करना चाहिए सब रजोगुण को उत्पन्न करने की भाषा होती है ये जो तरीका होता है आदमी को इतना ज्यादा विकृत कर देता है कि कई बार बोलो भैया लाफिंग क्लब में आपको पता है क्या होता है लोग बोलते यार हंसो तो भगवान ने इतना सुंदर चेहरा दिया कभी हंसते ही नहीं हो एक सज्जन जो है हम बंबई में प्रवचन के लिए गए थे तो एक सवेरे वॉक कर रहे थे तो लाफिंग क्लब चल रहा था वहां उनके इंस्ट्रक्टर सबको बता रहे थे यार हंसा करो हंसने के प्रकार मुस्कुराने के प्रकार मंद मुस्कुराहट बड़ी मुस्कुराहट खिलखिलाहट वाली जो हंसी अनेकों टाइप वर्गीकरण सब करा हुआ था एक सज्जन ने हाथ उठाया मायूस चेहरा था बोलते हैं महाराज जी हंसने के फायदे क्या है अब हम लोग की भाषा में क्या होगा ये आदमी भयंकर राजसी रहा है जब तक फायदा नहीं बताओगे हंसेगा भी उनको बोले यार तुम तो अच्छी तरह ये खा लो क्या फायदा ये खाने से क्या अब हमारी माता जी हमको करेला खिलाती थी करेला खा हमने माता जी खाए फायदा क्या खाने से जिहुआ में खाओ तो कड़ुआ अंदर जाओ बोलते हैं कड़ुआ बहुत आवश्यक है पेट के कीड़े भी मर जाएंगे हाँ। तो इतना बढ़िया है फायदे का वो फायदे गिनाती थी तो हम थोड़ा खा लेते थे या दाए बाएं जाती थी तो छोड़ देते थे सब गड़बड़ करते थे क्योंकि फायदे की बुद्धि हम्म? फायदे की बुद्धि ही रजोगुण का प्रभाव होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि आदमी ने जो गिनी चुनी चीजें फायदे की ढूंढ ली और चीज से उसका जीवन में सही में फायदा हो जाता है नहीं ऐसा होता है छोटा ही रहता है दुखी रहता है अशांत रहता है अशांत विक्षेप चंचलता आवेश सब रजोगुण से होता है गीता के तीसरे अध्याय में आप खोल के देखना भगवान अर्जुन को बोल रहे थे कि अर्जुन तुम जो हो वह ये योग का अभ्यास समस्त कर्मों में करो और ऐसे हो जाओ वैसे हो जाओ बड़ा जोश आ गया अर्जुन को अर्जुन ने बोला ठीक है भगवत करेंगे फिर बोलता भगवत एक प्रश्न है हमने बहुत बार बड़े बड़े सपने देखे आपको दिल की बात बता रहे भगवान जब जब हमने कोई बड़ा विचार करा कि ऐसा करेंगे हम्म, पता नहीं कौन कहा हमारे मन में होता है बैठा होता है हमको फिसला देता है हम्म, अनिच्छन वार्षय बलादिव नियोजित ऐसे कोई बलपूर्वक हमारे संकल्प को शिथिल कर देता है हम फिसल जाते हैं कितने लोगों ने सवेरे के उठ के वॉक करने का सोचा है हाँ? सवेरे सवेरे सवेरे उठना चाहिए घूमने जाना चाहिए रात को बाकायदा सब निश्चय करा सवेरे उठे <laughs> घर घर की कहानी है भाई कोई नई बात नहीं है अब हम गणित लगाते हैं क्या करेंगे वॉक जाके स्वस्थ हो क्या होगा स्वस्थ हो गए आनंदित हो गए अच्छा अभी क्या मिल रहा है हमको आनंद कर्मण बदलो जो इस समय नगद मिल रहा है वो हम छोड़ के क्या उधारी वाले बैठे हैं तो अर्जुन ने बोला भगवान बहुत बार सोचा हमने ये करेंगे वो करेंगे लेकिन पता नहीं कौन देवी शक्तियां होती हैं किस्मत होती है कोई देवता होते हैं भगवान कौन होता है बता दो वो हमको वो रहस्य बता दो भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन काम ऐसा क्रोध ऐसा रजो गुण समुद्भवा ये भैया तुमने जो रजोगुण को बढ़ाया है ना उसकी संतान है वो तुम्हारे मन को शिथिल कर देती है तुम्हारी संकल्प शक्ति क्षीण कर देती है तुम कोई निश्चय लो तुम फसलने की संभावना रखो ये रजोगुण का सत्संग चले गए बहुत बड़ी किताब पढ़ ली लेकिन क्रियान्वयन में तुम सदैव फेल हो गए हमको पता है कर ही नहीं पाओ ये रजोगुण का दुष्प्रभाव होता है और रजोगुण सबसे महान प्रेरक नहीं होता है यद्यपि बड़े बड़े लोग नेपोलियन अपने जनरलों के बारे में बोलता था ज्यादा चिंता मत करो सब काम करवा लेंगे इनसे तो कैसे करवाओगे अरे अरे कॉलर में फीता बढ़ा देंगे और क्या सीनियर हो गए तुम तुम जनरल बन गए और वो सब काम हो जाए थोड़ी फिर उनकी पे बढ़ा देंगे थोड़ा घर घर बढ़ा दे देंगे और गाड़ी दे देंगे ये स्वार्थ के प्रलोभनों से किसी को भी नचालो यार तुम दुनिया में हा? ऐसी चीज होती है सामान्यतः तो निश्चित रूप से आदमी अपनी अहम की संतुष्टि के लिए ज्यादा प्रेरित हुआ करता है लेकिन इसको हमारे शास्त्र हमारे गीता हमारे समस्त संत लोग बताते हैं यही भैया रजोगुण है और इससे बढ़िया चीज होती है और वो होता है सत्व सत्व गुण में भी आप खूब उमंग से काम करते हैं सत्व गुण में विवेक से काम करते हैं मेहनती होते हैं सब काम अच्छा होता है लेकिन कोई विकार नहीं आता सफलता भी सुनिश्चित होती है और जो जो सही में जीवन में महान लोग होंगे उनको आप अगर स्वार्थ की सिद्धि की प्रेरणा दोगे तो आपकी उपेक्षा कर देंगे उनके रेट नहीं होते बाकी में राजसी लोगों के रेट होते हैं यहां तक आज अच्छा इससे बढ़ा दो तो ज्यादा दो तो कर देंगे सबके रेट होते हैं क्योंकि स्वार्थ की पूर्ति की चिंता होती है लेकिन सात्विक आदमी का कोई प्रलोभन नहीं होता है मस्त होता है मुक्त तो होता है अब आप सोचते हो हनुमान जी को कोई रेट देगा हनुमान जी आ चले जाओ प्राइम मिनिस्टर बना देंगे आप सुग्रीव बोले उनको उस दिन पता लगा ऐसे लोगों को ये भाषा स्वार्थ की पूर्ति की भाषा अगर आप दोगे बोलेंगे नहीं हम रिटायर हो रहे हैं बाद ये काम किसी और से करो इच्छा ही नहीं होती स्वार्थ की पूर्ति बड़े लोगों से नहीं करवाई जाती काम अगर बड़ों से करवाना हो ना हम लोगों के वहां परंपरा है उनसे प्रणाम करो निवेदन करो और कुछ भी काम करवा लो भगवान के पास जाके प्रार्थना करो प्रणाम करो और जो चीज आपको चाहिए सब मिल जाएगी आपको भगवान कह बोले भगवान काम कर दो लड्डू चढ़ाएंगे बोलते ललुआ ये लड्डू कहां से लाए हो लड्डू हम तुमको दे रहे हैं और हमको प्रलोभन दे रहे हो बेवकूफ झुमरी तलैया ब्रांड हमको बता रहे हो कि हम लड्डू चढ़ा देंगे ये काम कर दो यार हमारे लड्डू आश्रम में कोई भयक लोग आते हैं हमारे आश्रम के फूल तोड़ के हमारे भगवान को चढ़ा के प्रार्थना करते हैं क्या बेवकूफ आदमी है तो चढ़ा अगर तुमको भगवान को चढ़ाना हो तो यार कम से कम एक पेड़ ही लगा लो घर में वो तो फूल लाओ कि कम से कम तुम्हारा फूल है कुछ तो मेहनत करी ना फूल उगाने के लिए एक भाई आती है पता नहीं क्या मोटी बुद्धि उसकी हम तो थक गए उसको बता हम बोला माता जी ये सब हमारे फूल महादेव जी को चढ़ाए जा चुके हैं चढ़ाया हुआ फूल थोड़ी चढ़ाते हैं अरे भगवान के लिए तो चाहिए सुनती नहीं है कुछ भी फूल जो नहीं सुनती है बोला ठीक है माता जी जो करो सब करो समाज सेवा ही सही हाँ। और कुछ नहीं इसी तरह से सही समझे तो करे ना कुछ समझती नहीं अगर सही में आपको भगवान को कुछ अर्पण करना हो भैया तो जो आपका है ना वही देना चाहिए कीमत चुकानी चाहिए या तो खरीद के लाया हाँ। और अगर खरीद के नहीं लाते तो उगाओ वो तो बेस्ट है और सबसे बढ़िया चीज भगवान को तो वो चढ़ाई जा सकती है जो भगवान के पास भी नहीं होती वो ही चीज भगवान को देनी चाहिए अब जो हमारे पास बहुत सारी चीज है वो, वो क्या दोगे यार हमको तो हम्म? वो तो है ही है हमारे पास तो महाराज जी भगवान के पास क्या है जो नहीं है सभी तो है भगवान का दुनिया में जो जो है सभी भगवान का बोलते नहीं नहीं ऐसा मत समझना भगवान के पास ऐसी कुछ चीज नहीं है जो तुम्हारे पास है पता है तुमको ऐसी कौन सी चीज है महाराज जी हम जो है हम ही भगवान के हमारा सब कुछ भगवान का है तेरा तुझको अर्पण अरे बोलते नहीं तुमने ध्यान नहीं दिया तुमको पता है भगवान के पास अभिमान नहीं है और तुम्हारे पास पूरा का पूरा भंडार है भगवान के पास काम क्रोध नहीं है चिंता नहीं है, और तुम्हारे पास तो अथाह अक्षय भंडार है चिंता चिंता दो अभिमान दे दो उनके पास जाके ये बोलो भगवान वास से हम ये पुदार्पण कर देते हैं आपको अरे ऐसी चीज दो तुम भी धुल जाओ वो भी तुमको मुक्त कर दें हम जो है सात्विक लोग इस प्रकार से कार्य करते हैं उन लोगों के जीवन का दर्शन ऐसा होता है कि जहां पर आप अपने प्याले को भरने के लिए जीवन नहीं जीते हैं जो आदमी ऐसी सोच रखता है कि हम जो भी हैं हम्म, खाली प्याला जैसे कई कवि लोग होते हैं अपना उपनाम लिखते हैं टूटा दिल और टूटी कलम पता नहीं क्या क्या लिखते हैं यार हाँ? उपना पेन नेम बोलते हैं उसको उसी तरीके से ज्यादातर सब लोग रहते हैं मिस्टर खाली प्याला इसीलिए जहां आए सीधे पूछ लो भगवान आप बहुत महान है अरे ठीक है यार मुद्दे पे आओ क्या चाहिए सीधी बात बताओ आए कुछ मांगने के लिए हाँ भगवान तो आप जानते हैं आप ही ने तो मुसीबत दी इसीलिए आप ही मांगते हैं एक ये सोच होती है कि हम जो भी हैं हमारे अंदर कमियां हैं सात्विक लोगों की सोच निराली होती है सात्विक लोगों की सोच ये होती है कि हम जो हैं धन्य हैं ईश्वर की कृपा के पात्र हैं सोच के देखो है जो है भगवान ने आपको बनाया है ईश्वर की कृपा है कि आप ऐसे हैं हमको उतार चढ़ाव मिल रहे हैं वो भी भगवान ने बड़े प्रेम से हमको दिए हम मजबूत हो इसलिए दिए कुछ भी सोचते हो लेकिन उनकी सोच ही अलग होती है अपने बारे में ग्लानी नहीं होती चिंता ही नहीं होती जो भी करो कुछ लोग होते हैं उनको कुछ भी करो ओके बोलते हैं स्वामी जी बहुत बहुत कृपा है बड़ी धन्यवाद बोले यार हम तुमको डांट रहे हैं यार इसमें तुम कृपा क्या देते हो अरे महाराज जी आपका प्रेम है तभी तो डांट रहे यार तुमको कभी गुस्सा नहीं आती बोलते महाराज जी आपका साथ हमारे सर पे रखा है क्या गुस्सा ऐसी विचित्र लोग होते हैं कुछ लोग ऐसे लोगों को शनि देवता राहु देवता केतु देवता क्या बिगाड़े हैं भैया सोचो तो जरा जिस व्यक्ति के मन में सत्व गुण होता है वो मुसीबत में आशीर्वाद देखा करता है कुछ लोग को जो है एक आधा गिलास पानी दे वो आधे खाली देख के मना करते हैं माथा फोड़ते रहते हैं क्या फूटी किस्मत है आधा ही गिलास दिया आधा पूरा दे देते तो आपका क्या बिगड़ता कुछ लोग आधा गिलास देखते ही नहीं है बोलते आधा भरा है यार हम खाली क्यों देखें आधा भरा है हमारा गिलास सोच की बात होती है सात्विक व्यक्ति की सोच ऐसी होती है कि जो कुछ है भगवान की कृपा है हमको इतनी आवश्यक था इसीलिए भगवान ने इतना दिया किसी भी परिस्थिति में किसी भी हालत में वो अपनी धन्यता को कभी खत्म नहीं होने देते इसके लिए विवेक चाहिए अकल चाहिए परिस्थिति बदल जाए तो आप खुश हो जाओ उसमें आपकी क्या कल है आप तो पराधीन हो परिस्थिति पे आप तो कठपुतली की तरह नचा सकते हैं रात को हम जब चाहो हंसा दे जब चाहे रुला दे क्योंकि आप पराधीन हो लेकिन सात्विक आदमी स्वतंत्र हो जाता है हर परिस्थिति में प्रसन्न रहने की उसकी क्षमता हो जाती है कुछ भी हो हम अच्छा देखेंगे अच्छा सोचेंगे और हमारे जीवन का प्रारंभ हमारे दिन का प्रारंभ धन्यता से होता है और आपको पता है नमः शब्द का अर्थ क्या होता है हर मंत्र में होता है हर श्लोक में होता है धन्यता की अभिव्यक्ति ही नमः शब्द का अर्थ होता है हे भगवान अहो भाग्य है आपको पता है हम लोगों के जो तीन तर्पण होते हैं उसका क्या मतलब होता है, है? देव ऋण है पितृ ऋण है ऋषि ऋण है और आप उनको तर्पण करते हो आप इन लोगों की बरसती हुई कृपा देखते हो अहो भाग्य है देवताओं का भगवान जितना आपने दिया है हमने तो आपको उतनी बार हम्म, प्रणाम भी नहीं करा है तो भी आप देते जा रहे हो आज हम बोल पा रहे हैं आज हम सोच पा रहे हैं आज हम सुन पा रहे हैं आज हम चल पा रहे हैं इतने में किसी की कृपा बरस रही है हमारे से थोड़ी हो रहा है अपनी तरफ से थोड़ी हो रहा है ये कोई कृपा बरसा रहा है हमारे ऊपर अब बच्चों को भी सिखाते जब कोई करे तो कम से कम जाके थैंक यू बोलो यार हाँ? भगवान की कृपा बरस रही हमारे ऊपर देवताओं की कृपा देखने लगो तब जाके जो है तर्पण करोगे पितरों की कृपा आपके पूर्वजों की कृपा आपका कुल आज ऐसे संस्कार मिले आज ऐसा परिवार मिला है आज ऐसे जीवन मिला है पितरों की कृपा होती है तब जाके चल पाता है और हमको ये सब ज्ञान आज पूरा परसा हुआ मिला है केवल पाठ करते हैं भजन करते हैं मस्त हो जाते हैं जिसने ये बनाया जिसने ये लिखा जिसने ये पूरी रिसर्च करी शोध करा रोमांच होता है सोच के क्या कृपा है यार हम लोग के ऊपर आज हम धन्य हैं धन्यता हर परिस्थिति में आना ये ही सात्विक व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है और यही तो रा, राज है रहस्य है कि हमारे वहां गांव में गरीब आदमी भी रात को काम वाम करके ऐसे ढोलक बजा के मस्त रहता है, है? और भगवान का गुणगान गा रहा है राम रस बरसे मन चातक क्यों तरसे बूंद बूंद में कृपा हरि की अंबर से बरसे तू क्यों खड़ा ओट में पगले भीगन के डर से है? काम क्रोध मद लोभ क्षोभ का छत्र हटा सर से प्रेम नीर में भीग बाबरे भीतर बाहर से राम रस बरसे बरस रही है कृपा भीगो यार मस्त रहो धन्यवाद कैसे ऊपर कृपा बरस रही है देखो तो ये विकार है ये रोग है कि हम बड़े दीन हैं ऐसे लोगों को कुछ भी मिल जाए आप सदैव देखना जो स्वार्थ से चिंतित रहता है ना इसको उपनिषदों में बोलते हैं प्रेय पथ अनुगामी ये प्रेय पथ पे चलने वाले लोग उन्होंने तो जैसे बीमा करा रखा है रोने का भगवान आप जो भी करो थोड़ा तो रो लेंगे हम बड़ी बढ़िया जो है घर में काम हो गया गाड़ी हो गई बंगला हो गया और उसी समय आज जब तुम नई गाड़ी खरीद के लाए थे पड़ोस वाला आपसे बड़ी गाड़ी ले आए उसी दिन क्या टाइमिंग है सब कचरा हो गया यार कम से कम एक दिन तो नाक उठा के जीने देते इसी दिन तुमको बड़ी गाड़ी लानी थी क्या मोहल्ले के जो है हम हीरो बन के एक दिन तो घूम पाते उसी दिन बड़ी गाड़ी ले आया सब कचरा हो गया अब जिसका आनंद केवल किसी से ज्यादा बड़े बनने में होता है कितना दुखी रहता है अब आप समझ लो कि हमारे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे क्या वो सदैव दुख सुखी आदमी रहेंगे देखना यार क्या क्या दुर्दशा होती है जाने वाली जो आएगा जाएगा थोड़ी देर के लिए खुश रह जाओ जाने वाला है अब तो अंतिम उन्होंने विदाई भाषण भी दे दिया है चार साल बाद बोले हम लोगों के वहां पहली बड़ी खबर थी मनमोहन सिंह बोले <laughs> अच्छा एक जगह तो किसी ने कार्यक्रम के सभा स्थल में एक नोटिस में लगा रखा था कृपया अपने मोबाइल को मनमोहन सिंह मोड के ऊपर चेंज कर साइलेंस मोड नहीं लिखा मनमोहन सिंह मोड के ऊपर मोबाइल को ले आइए कृपया <laughs> अहो भाग्य है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इतना शांत स्वरूप है लोग पीड़ाओं में भी नहीं बुलवा पाए ऐसे मनमोहन सिंह से आप प्रेरणा लो मोबाइल को मनमोहन सिंह मोड के ले आओ ऐसा व्यक्ति बहुत जो है फोकट में प्राइम मिनिस्टरशिप मिली कोई रेजोल्यूशन नहीं था किसी का नहीं था जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी बोलते थे हमारी परंपरा है जो चुन के आएंगे उन्हीं में से चुना जाएगा मनमोहन सिंह कौन चुन के आए हैं <laughs> कौन पूरी जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी uh, ने उनको चुना था मिल गया लेकिन जो ऐसे मिलता है वो चला जाता है तो भैया ये तरीका राजसी तरीका नहीं होता है सात्विक तरीके से जीने का प्रयोग करना चाहिए धन्य हो धन्यता को उत्पन्न करो और ध्यान का प्रयोजन ये होता है सवेरे बैठ के गुरुदेव का ध्यान करके धन्य हो धन्यता की अनुभूति करना चाहिए अद्भुत अनुभूति एक इमोशन है ग्रैटिट्यूड धन्यता अनुभव करने योग्य होती है आदमी संतुष्ट होता है उस समय कृपा से युक्त तो होता है और ये जो धन्यता की अनुभूति है वो कुछ भी सोचो लेकिन धन्य हो आप मनुष्य हैं चलते फिरते हैं बस धन्य होने के लिए इतनी पर्याप्त है आपकी सांसें चल रही है धन्य होने के लिए इतनी पर्याप्त है आप चलते फिरते हो क्या यार एक टांग तोड़ी जाए तभी जाके तुमको याद आएगा पुराने दिन क्या दिन थे जब चल पाते थे अब हमारे जैसे लोग अब मिठाई देख के ऐसी करते हैं क्या दिन थे जब एक एक दर्जन लड्डू सूत जाते थे अभी तो नहीं अभी तो दर्श दर्शन मात्र से कृतार्थ होना पड़ता है क्या दिन थे है? हाँ? वो क्या थे ऐसे ही सोचते रहो यार तुम धन्य ना धीमे धीमे हमको आज जो है यह नहीं मिल रहा है इसमें कुछ अच्छा है हर चीज में कुछ अच्छा होता है सोचना सीखो हर चीज में कृपा होती है एक डॉक्टर एक सज्जन थे अरे पौने नौ बजे हमको बह जाते हैं क्या सुनाई दे चलो ठीक है ये कहानी सुना के फिर हम समापन करेंगे फिर हम लोग आरती करेंगे हनुमान जी की तो ध्यान में देखिए मूल हम लोग की भूमिका क्या चल रही है सत्य गुरु का स्मरण धन्यता से करो इष्ट देवता का धन्यता से करो धन्यता की भाव को जगाओ धन्यता की अनुभूति करो उसको अपने हृदय में आने दो आपके रोय रोय में थोड़ी देर के लिए बसने दो ये ही हनुमान चालीसा के पाठ का प्रामाणिक तरीका भी है सुमिरो पवन कुमार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो स्मरण कर रहे ध्यान कर रहे तो प्रारंभ में हनुमान चालीसा के प्रारंभ में स्मरण करो और ध्यान का तरीका यह होता है कि धन्यता से स्मरण करो माथा पीटते हुए नहीं क्या भगवान मुसीबत गरीबी दे दी यार आपने भी पता नहीं लाइन में अंतिम लाइन में लगे हुए थे तभी हमारा नंबर आया क्या भगवान आज के सोने का टाइम हो रहा था तो हमारा नंबर लगवा दिया हाँ, वहां जाके लेक्चर में सुनाना है भगवान के जो दिया है बड़े प्रेम से दिया है प्रेम से स्वीकारो धन्य हो तो एक राजा साहब थे उनके मिनिस्टर थे दोनों को बहुत विश्वास था जो होता है अच्छा होता है पूरा विश्वास था उनका तकिया कलाम बन गया था उनको कुछ भी मुसीबत आती थी यार इसमें भी कुछ अच्छा ही है उनके मिनिस्टर को भी आदत पड़ गई कि जो भी समस्या आती थी कुछ अच्छा है इसमें अब उनके साहबजादे थे जो राजकुमार नया खून नया जोश उनको ये बात नहीं समझ में आती बोलते तो प्रैक्टिकल बनो भैया राजा साहब पिता शरीर तो मुसीबत आई तो मुसीबत को तो देखो नहीं नहीं इसमें भी कुछ कृपा है यार तुम्हारा दिमाग है क्या है समझ में नहीं आता भैया हमको तो नहीं समझ में आता उनके पिताजी बहुत समझाते थे नहीं बेटा इस समय भले कोई मुसीबत हो अंततः केवल कृपा होएगी तुम मान लो इस बात को ये हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी थे इनको प्रारंभ में एयरफोर्स में जाना था पायलट बनकर और इन्होंने इतने विद्वान साइंटिस्ट बने इतने बड़े वैज्ञानिक थे लेकिन एयरफोर्स की परीक्षा में पास ही नहीं होते थे तीसरी बार उन्होंने दिया तो बोले इस बार तो हम पास नहीं है खूब मेहनत करी लेकिन फिर फेल तो बड़े डिप्रेस हो गए बड़े मायूस बैठे थे उनके किसी मित्र ने बोला यार हम जा रहे हैं चलो ऋषिकेश की तरफ घूम के आ जाओ थोड़ा चलो तुम भी तो गए वहां उनके साथ तो उधर एक स्वामी शिवानंद जी रहते थे उन दिनों ऋषिकेश में डिवाइन लाइफ सोसाइटी करके आश्रम है वहां तो उसके जो <clears throat> मूल स्तंभ थे वो महाराज सिंह दिनों रहते थे वहीं पे और पुरानी बात है स्वाभाविक रूप से अब्दुल कलाम जी की जवानी की तो उस समय जो है वो उन्होंने बोला है बोला बेटा तुम बड़े मायूस देख रहे हो क्या बात है तो क्या होता है महाराज तीन बार कोशिश करी खूब मेहनत करते फेल ही हो जाते हैं पता नहीं कहां पे गड़बड़ होता है जो तैयारी करके जाओ वो क्वेश्चन आते नहीं है दूसरे क्वेश्चन आ जाते हैं तो किस्मत खराब है क्या है पता नहीं तो उन्होंने उनको बताया बोला देखो एक चीज हमारी ध्यान रखा जीवन पर तुम्हारे सच्चे प्रयास के उपरांत जो कुछ भी होता है अगर तुम थोड़ा बहुत देखते हो परिवर्तित हो सकता है तो कर लेना लेकिन तुम कई बार देखोगे नहीं परिवर्तन कर सकते हो ऐसी चीज को ईश्वर इच्छा समझ के स्वीकार करो और ईश्वर की इच्छा सदैव कल्याणकारी होगी यह तुम गांठ बांध के रखो जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जगदीश्वर है आज जिन्होंने तुमको जीवन दिया है वो तुमको मुसीबत क्यों देंगे सोचो तो जरा विश्वास करो और अपने मन को क्षुब्ध मत करो विक्षिप्त मत करो शांत मत करो सकारात्मक रहो और अच्छी सोच रखो ये बहुत आवश्यक होता है तुम्हारे जीवन के कल्याण के लिए वो बोलते हैं वो दिन था और आज का दिन है हमने उनकी बात को मान लिया और तभी जाके हमारे जीवन में तब से हाँ, तनाव आदमी की ऊर्जा खत्म कर देता है रोग ले आता है खत्म कर देता है जीवन सब तनाव से मुक्त हो गए और वैज्ञानिक देश के राष्ट्रपति क्या नहीं बने उन्होंने अपने जीवन के संस्मरणों में लिखा है उनकी ऑटोबायोग्राफी जीवन की कथा किताब प्रकाशित हुई उसका यह जो है अंश है जो कुछ होता है अच्छे होता है हाँ कई बार हमको जिस समय चाहिए होता है समय पता नहीं लगता है क्या अच्छा होगा इस लेकिन यही विश्वास है तो राजा साहब और उनके मंत्री रात को तो बड़ा विश्वास था मगर राजकुमार जी को नहीं था तो पिताजी का देहांत हो गया ये नए राजकुमार बन गए राजा साहब और राजा साहब तो बन गए लेकिन अब पुराने मंत्री को थोड़ी रिटायर कर सकते हैं बड़े अनुभवी हैं बढ़िया है तो वो जब भी कोई सिचुएशन आती तो बहुत प्रॉब्लम आ गई ये बाढ़ आ गई ये हो गया ये वहां आक्रमण होने लगा ये जासूसी कर रहा था ये इसने ये बदमाशी करी लूट लिया अब राजाओं के बाद यही सब लफड़ा होता है और क्या होता है हाँ? जब भी होता राजी बड़ी कृपा है बोला यार तुम चुप रहो हाँ? हर समय हमको तुम जो है वह और गुस्सा दिलवा देते हो हम सोच रहे हैं विचार कर रहे हैं नहीं बड़ी कृपा है क्या कृपा है हाँ? यहां पे मुसीबत आ गई है हमारे दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया उसने बड़ी कृपा है बोले कल हम मर जाएंगे तो बोलो बड़ी कृपा है बोले यार आपका रिटायरमेंट का समय आ गया है अब आप तो रिटायर हो जाओ तो ज्यादा अच्छा है हम्म। तो सोचते थे लेकिन रिटायर कर नहीं सकते थे पिता तुल्य थे मंत्री भी और लोग भी बोलते हैं देखो पिताजी को गए टाइम नहीं हुआ है इतने बुजुर्ग पिताजी तुल्य मंत्री जो आशीर्वाद बने हुए थे उनको हटा दिया तो बोलते हैं चलो अच्छा अभी मत रिटायर हो हम सोच के बताते हैं थोड़ा झेलेंगे तुमको अभी और क्या करेंगे तो वो एक बार बहुत डिस्टर्ब हो गया तो उन्होंने बोला हम जा रहे हैं जरा कल जो है ना हम नहीं आएंगे हम शिकारी का खेलने जा रहे हैं चले गए हर बार मंत्री को साथ में ले जाते थे बोला नहीं इस बार आपको नहीं ले जाएंगे तो मंत्री बोले इसमें भी कृपा है अरे यार तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कृपा है खाए हो तुम तो। तुम्हारे जैसों को हम कभी गुस्सा तो नहीं करवा सकते ये तो हमने अनुभव कर लिया क्योंकि कितना भी करो उसमें कृपा है बड़े अजीब लोग तो एनी वे वो जो सज्जन राजकुमार जो है नए राजा साहब छोटे राजा साहब गए शिकार का अब उसी दिन राजा साहब की क्या हुआ था वो फल खा रहे थे अंगूठा कट गया मंत्री खड़े हुए अब आप समझ लो क्या बोला होगा <laughs> महाराज जी हाथ कट गया चलो कृपा है कोई कृष्ण कृपा हुई उसमें तो तभी गुस्सा आ गई बोला बस अब तो अंतिम बार है ये अब छोड़ूंगा नहीं आपको हम जरा एक दिन सोच के आते हैं जरा मेडिटेशन करते हैं क्या करें क्या इलाज करा जाए आपका तो गए जंगल जंगल वंगल घूमते रहे उस दिन जैसे आदमी विक्षिप्त अशांत मन में कुछ निशाना भी नहीं लगा पाता है कुछ नहीं हुआ आंख खाली होके जानते पैदल चलते आ रहे थे सिपाही विपाही भी पीछे रह गए और वो आ रहे थे उस समय पता नहीं कहीं से कोई दो चार कबीले लोग निकल आए और उनको जो है किसी ने कुछ नहीं बोला सीधे राजा साहब को पकड़ लिया तो क्या कर रहे हम राजा हैं किसी ने कुछ नहीं बोला जैसे कि सब पता है पकड़ा उनको बांधा आंख में पट्टी बांधी उन्हीं के घोड़े में उन्होंने उल्टा लटकाया पेट के बल और कहीं पैदल ले जाने लगे बड़ा हाथ पैर मारते रहे फिर कुछ नहीं हुआ वहां पहुंच गए एक जगह गए तो पता लगा गांव में एक यज्ञ चल रहा था जहां पे नियम ऐसा था कि एक बलि चढ़ाई जाती और उसमें एक मंडली भेजी जाती जो भी पहले मिले पकड़ के ले आओ माता जी उसी की बलि चाहती है अब उन लोगों की मान्यता है तो पता लगा कि राजा साहब की बलि चढ़ाई जाने वाली वो आया उनका मुखिया और उसने महाराज हमको पता है आप कौन है लेकिन हमारे हाथ की कोई बात नहीं है हमारे वहां की परंपरा है आप भी मिल रहे थे हमको क्या पता है कोई कोई सिपाही पाई दिखते मंत्री दिखते हैं तो हम दूर चले जाते आप अकेले टहलते चले आ रहे हैं पकड़े गए तो माता जी की इच्छा है कि आपकी बड़ी ले तो कुछ कुछ नहीं बोला बोला इनको चलो मिला दिलाओ जैसे बकरे की बलि चढ़ाई जाती है सब टीका चीका लगाते हैं वैसे उनको सब गंगा जल वगैरह से नहलाए अपने जो है पास की नदी के जल से भी नहलाया और फिर नहला धुला के बलि के लिए लाने लगे उस समय जो पंडित इंचार्ज थे उसके बलि के उन्होंने निरीक्षण करा निरीक्षण करके बड़े गुस्सा आ गए ना कौन लाया है हम लोग खड़े थे बोलते हम लोग गए थे ते मूर्ख तुमको पता नहीं है बलि किसकी चढ़ाई जाती है क्या हो गया भाई बोलते इसका अंग भंग है जिसका अंग भंग हो उसकी बलि कहां चढ़ाई जाए बोला अंग भंग है तो ठीक ठाक दिख रहा है देखो अंगूठा इसका कटा हुआ अंगूठा है कटे हुए की बलि चढ़ाते दो लपड़ लगा बोला अरे गलती हो गई महाराज जी तो मुखिया गए राजा साहब महाराज जी माता जी ने बोला आपको छोड़ दिया जाए अब इतनी देर तक वो जो छोटे राजा साहब थे अपने पिताजी की याद कर रहे हैं अब मरने वाले उस समय पिताजी और सभी पत्नी जी सबकी याद करी जाती है हाँ, <laughs> मरने वाले उस समय वो याद कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाए शायद इसमें भी कृपा हो जाए बुद्धि सोचने लगी उस हिसाब से और वही हुआ पता लगा कि वो बच गए तो आया हम बोला महाराज जी आप बड़े अच्छे राजा हैं आपके पिताजी भी बड़े अच्छे थे हमको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है वो तो हमारा ऐसा व्यवस्था है नियम है हम क्या करें बाप इसी व्यवस्था के अंतर्गत आपको छोड़ भी रहे बाप को हम आदर सहित आपके जो है स्थान में आज रात वक्त पहुंचाते हैं पहुंचा दिए गए और जिस समय वो जा रहे थे उन्होंने मंत्री को गुस्से के मारे नजरबंद करवा दिया था जेल में तो कर नहीं सकते हमारा घर में नजर बंद करो नजर बंद जब कराए तो उस समय बोला इसमें भी कृपा है <laughs> कृपा पार्टी है ना वो तो और जो भी है कृपा है तो वहां पे वो सीधे उस मंत्री के पास गए बोला महाराज जी आज तो आंखें खुल गई हमारी आप जो बोलते थे सही बोलते थे बोला क्या हुआ बोला ऐसी ऐसी बात आज हमको पता लग गया कि अंगूठा जब कटता है उस समय तो पीड़ा होती है जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है उस समय तो निश्चित रूप से बड़ा क्षोभ होता है लेकिन थोड़े धीरज से थोड़ी दूरदर्शिता रखते हुए हम देखें तो ये हमारे जीवन में टर्निंग पॉइंट होता है कृपा के लिए ये विश्वास की बात है ये सोच की बात है मंत्री साहब बोलते हैं आज हमको बहुत खुशी है अब हम जो है रिटायर हो सकते हैं अब हम मुक्त हो सकते हैं अब आपके अंदर ये विवेक जग गया है और महाराज आप एक बात देखिए आपने हमको बंद करा था ना इसमें भी कृपा दिख गई ना आपको बोलते हैं उसमें क्या कृपा दिखी बोलते हैं जब भी आप गए हैं हमने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा है ये पहली बार है कि आप अकेले रहेंगे और जब आप छूटते तो महाराज कौन मरता हम ही मरते ना तो आपने हमको बंद कर दिया आपने तो जीवन दान दे दिया महाराज जी आप बड़े महान हो धन्य हो जय हो जय हो जय हो ऐसा होता है भैया जब आप एक बार निश्चय कर लो सोच बदल लो दृष्टि बदल लो जो है उसमें अच्छाई होगी धीरज रखो थोड़ा उसमें भी कृपा होती ऐसा नहीं निष्क्रिय हो जाओ यार जो भगवान कृपा करेंगे ये नहीं कहा जा रहा मेहनत से ईश्वर के दूत बन के हनुमान जी से एक तो प्रेरणा लेते हैं राम दूत अतुलित बलधामा राम जी के दूत बन के जियो आपके ऊपर कृपा बरस रही है आप राम जी के सेवक हो और इस दुनिया में राम जी के दूत बन के आए हो आन दो रावण रावण को यार किसको ले आना है रावण डरे आप थोड़ी डरो यही तो हनुमान जी ने कर दिया नानी याद दिला दी सबकी और धन्य हो के कोई अभिमान नहीं कोई विकार नहीं कोई क्रोध नहीं उनसे बोला वाह ना हनुमान जी क्या गजब करके आओ क्या भगवान मजाक कर रहा हमने क्या करा आप ही ने जो करा करा हमने तो हाथ घुमा दिया था दस लोग खड़े थे मर गए यार हम क्या करें हमने थोड़ी मारा है हमने तो पेड़ हिला दिया था कस के उन्हीं के ऊपर ही कद्दू गिरा जाके तो हम क्या करें मर गए तो मर गए सब भगवान आपकी लीला है आप फोकट में हमको आप चने की झाड़ पे चढ़ा रक्ति मात्र अभिमान नहीं कोई क्रोध नहीं कोई क्षोभ नहीं कोई चिंता नहीं धन्यता की मूर्ति थे वो खोल ऐसे हनुमान जी का भजन करना है ध्यान करना है चालीसा करनी है पढ़ना है तो धन्य होके बैठो भैया बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार स्मरण करो धन्यता की मूर्ति बन के स्मरण करो आप धन्यता की मूर्ति का ही भजन कर रहे हो थोड़ी देर तो धन्य होके बैठो हुँ? हम्म। इस दोहे का प्रारंभ यहां से होता है अभी आगे आगे देखो होता है क्या अभी तो श्री गणेश है <laughs> अभी तो एक ही शब्द पे अटक गए अभी वो भी हमने पूरा दिल खोल के अभी तृप्ति हमको नहीं हुई है वैसे आपको हमने एक चीज से तृप्त करने की कोशिश करी है हम्म। ऐसा यह तरीका है ये संतों की वाणी है तो ऐसा आनंद लेते हुए सवेरे के समय ध्यान करना कल से चालू करो हम्म। श्री गणेश शुभ से शीघ्र शुभ चीज में टाल मटोल नहीं करो सदर सरल बैठ के ध्यान करो धन्य होके बैठो भगवान आपने जो कुछ दिया है हमारे लिए वही उचित होगा और आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रख रहे हैं ये सोच के ही रोमांच होता है हमको तो जो है आपने जो कुछ दिया है हमने कभी दिल से आपको धन्यवाद भी शायद न करा हो हम तो अपने अहम की ही ध्वजा फहराते रहे अपनी पीठ ठोकते रहे मैंने करा मैंने करा मैंने करा भगवान तो भी आप कृपा बरसा रहे थे अहो भाग्य है धन्य है धन्य होके बैठो और धन्य होके आगे क्या करना है इसके लिए तो अगले महीने इंतजार करना पड़ेगा <laughs> श्री राम जय राम